इस किताब का नजूल अल्लाह ताला की जानब से है जो सब पर गालिब हर चीज़ को जानने वाला है